जानता है कि वह अमात्र स्वरूप है उनका फिर भी अनंत मात्रा वाले हैं और ये भी जानता है वो अनंत मात्रा वाला अनंत रूप में धारण कर रहा है ना विवर्त हो रहा है ना विवर्त अगर वादित हो रहा है जैसे मायावी को आप देख रहे हैं क्या अनंत रूपों में देखते रहते हैं जब ये जानते हैं मायावी तो मायावी है वो कोई रूप वाला है नहीं है वो ये हाथी घोड़ा पार्गी क्या क्या बन गया इनमें से कोई भी मायावी नहीं है इसे वो अमात्र होता हुआ अनंत मात्र वाला है अरूप वाला होते हुए अनंत रूप धारण कर रहा है इसलिए कहते हैं कि भाई अनंत मात्र ऐसा होता हो भी वो कैसा है द्वैत शिवपशव शिव निखिल द्वैत उपशव स्वरूप होने के नाते वह मंगलमय है ओंकार ऐसे ओंकार भी तो ये ना ऐसे ओंकार को जिसके द्वारा जान लिया गया है स मुनि वही मुनि है परमार्थ तत्व का मरण करने वाला वास्तविक पुरुष वही है पर और इससे भिन्न इतना बड़े शास्त्र की क्यों ना हो वो तो सब जना बाकी सब जन मैंने जन्म मरने वाले जिन्हें प्रादुर्भावे वाले हैं जिन्हें मरने वाले सब है सब बाकी जितने भी हैं कौन कौन चलो शास्त्र की क्यों ना हो तो परोक्ष ज्ञानी जितने भी हो भी सब पुनर्जन्म की ही कारणीभूत वस्तु बन जाते हैं नेत्रो जना श्लोक ध्यान है ना शास्त्रज्ञो क्या कहा वेदज्ञो नीतिज्ञ नियतिज्ञ नीतिज्ञ नियतिज्ञ धर्मज्ञोपि शास्त्रज्ञा और क्या था ब्रह्मज्ञो भी बहवा स्वाज्ञाज्ञोति विरला शास्त्र का ज्ञान तो बहुत मिलेगी धर्म की ज्ञान तो बहुत मिलेगी नीति और नियति को जानने वाले नीति को जानने वाले तो है ही नियति को भी जानने वाले बहुत सारे लोग नीति नियति मैंने कहा जन्म मरण के समय आदि को तो सबको समय प्रकार से जानने वाले बहुत मिलते हैं और आज जगह जगह बोर्ड को देखते ही श्रोत ब्रह्मनिष्ठों की कोई कमी नहीं लेकिन उनके अपने पेट में जो अज्ञान कितना भरा पड़ा है कोई नहीं जानता स्वज्ञान क्या अति विरला कहते थे लोग साधना वाले क्या करते हैं तुम ब्रह्मो का खत्म हो गई कहाँ साधना फाधना करोगे जनकटन करोगे क्या जरूरत साधना की क्या भजन करना तुम ब्रह्म हो बात खत्म हो गई फालतू बात करते साधना करोगे इनसे ये पूछना चाहे भाई तुमने क्या किया था मुझे बता ये जो जान लिया ना मैं ब्रह्म तुम्हें ब्रह्म होकर के इसको जानने पर तुमने कुछ किया था कि नहीं किया था गुरु के पास गया भजन पूजन किया बहुत नाहक रगड़ा तब जाकर के कुछ हुआ और अंगूठी में आई वही तो साधना रह गया सारी जिंदगी लगा कर ये सफेद बार होने के बाद दूसरों को भ्रष्ट कर रहा है जिंदगी लगाया ब्रह्मानुभव किया और दूसरे को तुम करने की जो इसका मतलब क्या क्या है तुम अनुभव मत करो ब्रह्म का मैं जान लो मैं ब्रह्म हूँ और सहारा नहीं करेगा तो अनुभव क्या करेगा अनुभव तो करेगा ही नहीं बहुत दुनिया दुकान को खोल के दे देंगे तुम भी आप बैठ गए दुकान में तुम भी अपने वेदांत व्यापार चला ये तो हो रहा है शाखाओं को बना देते हैं शाखाओं को उसको इंचार्ज बना देते ब्रांच मैनेजर है ब्रांच इंचार्ज ब्रांच सेक्रेटरी अलग अलग नामों से महंत श्री महंत क्या क्या नाम दे दिया और उसको बेकूफ बना के उठा दिया उसको और श्री का महंत है नाम में भी खतरा है नहीं सोचते महापूजा महंत क्या है जो पूजा का अंत हो जाए उसी का नाम महंत है प्रेम से बोलते हैं हाँ, ये नहीं सोचते तू तो क्या है आखिरी में महंत का अर्थ ही जानते ना वो बेचारे एक बार ऐसे आए हमारे पास बोले मैं महंत अमुक जगह कहा मैंने कहा अच्छा बैठिए भाई थोड़ा समझते हैं आप क्या है थोड़ा समझा जाए आप महंत है बोल रहे हो महंत शब्द का जानते हो क्या और संपत्ति उम्पत्ति बहुत रहता है आश्रम रहता है ये रहता है वो रहता है अरे भाई ये नहीं है तो हमने उसको समझाया वो देखते रह गया कहा कि भाई इसका नाम मोहन है तेरी पूजा बहन छुड़ा देना उसका अंत कर देना तेरी साधना का अंत हो जाए इन सब की मौत हो जाना मैं तेरी आध्यात्मिक मौत का दूसरा नाम है महंत घबरा गया सुनकर यह आध्यात्मिक मौत है महंत मंडेश्वर बनना क्यों नरक का द्वार खुल गया और क्या रहेगा तुम्हारे लिए नरक में रिजर्वेशन हो गया वो जो टाइम है ना तेरे मानता की जो मुहूर्त निकला है वो नरक के द्वार के रिजर्वेशन का मुहूर्त था तुम समझो अब फंस गए अब क्या करो महाराज न तो करोगे क्या बनी का बगना तो बनी क्या है, विवेक करो अभी चलो अभी देर नहीं लगा चीजें तो होना भी अकल भी है तुम्हारे पास समझ भी रहे हो तो छोड़ो एकदम झंझट बबाल को नमस्ते में रहो स्वाध्याय में लगे रहो सेठ आए ना आए जाए बाहर में क्या मतलब तो अपनी स्वाध्याय को क्यों छोड़ो अपना भजन को क्यों छोड़ते हो चले ना चले आश्रम क्या लेन देने तुमको उससे बल्कि ये सोचो अच्छा है मेरे को महंत बनाया तो उसमें लग रहा मैं अमहंत हूँ ऐसे होता है ना स्कूल स्कूल बोलते नहीं बोलते स्कूल वैसे तो इसे बोला ना अमहत बोधो क्या कर अमहत बोधो उच्चारण करो उसको और जो अपने आप को अमहंत मान करके पूजा पाठ करो उस नियम को भंग मत करो साधना तब तो तुम वहां रहते हुए तुम्हारा अच्छा काम चल जाएगा इसीलिए ये चीजों को नहीं समझने वाला जो है ना वो हो जना वो जो इतर है वो क्या है वो जन है वो मैं परिच्छेद रहित है जो वो अमान्य है अनंत यश्य तादृश मात्रा भी अनंत है जिसका सो अनंत मात्रा और परिच्छेद भी अनंत उपाधिया अनंत उपाधियां परिकल्पित है स्वयं अपरिचिन्न होता है अनंत उपाधियों को परिचिन सा अनुभव में आता है नहीं तो उत्तम तो से परिच्छेद विषकृत कहने का तक पर उसकी यत्ता के द्वारा परिचयता उत्तम वो इतनी रूप वाला है ऐसा परिच्छेद भी आप नहीं कर सकते सर्वद्वैतोपमत्कार विश्व संपूर्ण द्वैत उपशम होने से वह शिव है ओंकार यथा व्याख्यात हो वो ओंकार है कैसा ओंकार जैसा अभी तक व्याख्यान कराए ने उस व्याख्यात ओंकार को भी तो ये न विजित कर लिया जान लिया अनुभव कर लिया है जिसके द्वारा सब परमार्थ तत्व से मरणत वह व्यक्ति परमार्थ का मरण किया है अतएव वह मुनि है नेत्रो जनहा शास्त्र भी भाई श्लोक का संकेत कर दिया ना शास्त्र विद भी क्यों ना हो फिर वह भी जन ही जन्म लेने वाला है वो मुक्त नहीं हो सकता है कदापि इस प्रकार से जो है गौड़ कार्यकारी का जो आगम प्रकरण प्रथम है वो पूर्ण हो जाता है साथ साथ आगम जो कि उपनिषद भी पहले पूरा हो चुका था इसके बाद आगम के आधार पर श्रुदे के आधार पर आपने सिद्ध तो कर दिया की अभिधान अभिधेय अभिन्न है अतएव बुध ब्रह्म ही सत्य है उससे अभिन्न होता अभिधान ओम ही वास्तविक सत्य स्वरूप है और इसे भिन्न जो कुछ भी अभिधेय करके तुम ग्रहण करते हुए जगत द्वैत वो मिथ्या है साबित कर दिया लेकिन श्रुति के आधार पर साबित जो किया आपने उसी को आप युक्तियों से सिद्ध करना जरूरी है इसलिए

दिव्या कहते हैं एक में नित्यम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार याद है द्वैतम ने विद्य के पहले कह दिया गया था अगर आगम मात्र तक तो आगम प्रदान होकर के कहा है है ना तो श्रुति अधीन होकर के कहा गए आगम प्रदान होकर कहा तथा मैंने तस्वीर विषय तारस अद्वैत तत्व विषय उपपत्ति अवधारित द्वितीय प्रकरण आरभ्य लेकिन द्वैत का विचार वैधत्यता मन मिथ्यात्व जो है अवधारण करना उपपत्ति से भी संभव है युक्ति के द्वारा भी भले उस युक्ति का उपोधवलक रूपे नाम श्रुति को भी दिखा दे लेकिन युक्ति प्रदान होकर के इस प्रकरण में हम द्वैत की मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे उसके लिए ही यह दूसरा प्रकरण आरंभ किया जा रहा है पहली कारिका का कार्य है स्वप्ने सर्वभावान मनीषिना हो स्वप्न में प्रतीत होने वाले जो समस्त पदार्थ है वह समस्त पदार्थ क्या है वही तथ्यम मन मिथ्या है ऐसे विद्वान लोग कहते हैं क्यों कहते हैं अंतस्ता क्योंकि वो भीतर में थे भीतर में शरीर के भीतर में ही सारा का सारा चीज जो कुछ भी आपने देखा बहुत बड़ा शहर देखा गाड़ी घोड़ा देखा सब देखा मतलब सब कहा है बाहर थे ही नहीं सब के सब एक नाड़ी प्रदेश के अंदर क्या हो सकता है कि एक नाड़ी में सारी गाड़ी घोड़े और जो जब सोए हैं मान लो दस बजे सोए और पांच बजे उठे कितना घंटा हुआ सात घंटे हुए कि नहीं हुए और वह कितनी आयु थी कई वर्ष की खेल खेल लिया और सात घंटे में कई वर्षों को कैसे आप समाप्त कर दे कोई नहीं सुन रहा है काल का विचार देखने को मिल रहा है देश का विचार देखने को मिलता है वस्तु का विचार तो ये मान लीजिए आपका स्वप्न सत्य है और आप स्वप्न में यहाँ से मुंबई चले गए और वहां अपने भगत से बातचीत करके आ गए और अगला दिन फोन करके पूछो उससे मैं तुमको ये बात कहता कहते महाराज आप कब आए थे मुंबई हम तो आए ही नहीं बोले ही नहीं और झूठ बोलते हो बात बात अब कब आए अरे मैं स्वप्न से तुम्हारे पास आया था वो से घर मार पागल हो रखा है अगर स्वप्न से आया हो तो सच मार रहा संबंध हुआ नहीं इधर उससे पूछेंगे तो कहते मैं आपको तो मिला ही नहीं था है मैंने कल तुमको मिला हो तुम्हें एक लाख रुपये हमने कर्जा लिया है तो मान ले लो हाँ जी आप आए थे मेरे पास और एक लाख रुपये कर्जा दिए कोई नहीं माने तो इसलिए देश काल और वस्तु तीनों जो परिचिन पदार्थ आपने अनुभव किया तीनों के तीनों मिथ्या ही साबित होता है ये जो भीतर में परिच्छिन्न देश में संवृत हेतु हेतु क्या करे समृद्ध है वो परिचिन्न है वो संकुचित देश संकुचित काल में अधम जो है विस्तृत देश विशाल काल और बड़े बड़े पदार्थों को जो आप देख रहे हो उस कारण से हमें कहना पड़ेगा ये सकल भाव पदार्थ मिथ्या है स्वप्न में जो है उनकी बात कर रहे हैं एक में मिथ्या श्रुति का इसलिए वही तथ्य मिथ्या जना भाष्यकार कहते देखिए वितथस्य भाव वही तथ्यम विधम मैं मिथ्या उसका जो भाव उसको वही तथ्यम मन असत्यत्व मिथ्या कस्य असत्यतम भवती किसकी असत्यता का वहां भी आपने पानी पिया और प्यास बुझा लिया यहाँ पानी पी के खिचड़ी खा के बढ़िया खा पी के सोए हुए हैं और वहाँ आपको भूख प्यास लग रही है परेशान हो रहे हैं तो वहां भी हमने खाए पिए या नहीं वहां भी भंडारा का पर्ची मिला वहां भंडारा खाते हैं तो वो जो वहां पर हमने बाहर जाना खाना पीना सब बात कर रहे हो उपाय हो गया और अंतर उसको खाने से सुख मिला बढ़िया नींद आई बढ़िया सोए थे अच्छी चीजें वहां देखा खेला कूदा सब चीजों से आपको सुख मिलता ही नहीं मिलता है और उल्टा पुलटा हो जाए तो दुख भी मिलता है वो जो सुख दुख का अनुभूति हुई है वो स्वप्नस्थ जो सुख दुखारी है वो स्वप्नस्थ आप पदार्थ है उस शरीर में हुआ है शरीर में जो अनुभव कर रहे हो वो आध्यात्मिक शरीर में जो सुख दुखारी होता है वो आध्यात्मिक हो गया और सिर्फ बाह्य रूप में अनुभव आपने यह घर पढ़ा दिया बाह्य हो गया और सकल पदा सर्वेशम बाह्य आध्यात्मिक नाम भावा पदार्थ नहीं उपलब्धि महाराणाम कहा उपलब्ध हो रहा है सब स्वप्न में जो उपलब्ध हो रहे हैं उनको आहु कपयंती उनको मिथ्या करके कहते हैं कौन लोग कहते हैं कहते मनीषिण प्रमाण कुशला प्रमाण व्यवहार करने में जो अत्यंत कुशल लोग उन लोगों का कथन है कहने का मतलब केवल सांख्य हो योग हो बौद्ध हो जैन हो नास्तिक लोग कोई भी है वो भी स्वप्न सकल पदार्थों को मिथ्या मानते हैं ये तो निर्विवाद है इस विषय किसी भी दर्शन का स्वप्न पदार्थ को सत्य नहीं माना चाहे इस देश के हो भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो विश्व में कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पैदा हुआ आज तक जो कहे कि स्वप्न पदार्थ सत्य है कोई इसने कह दिया प्रमाण को शब्द तो कहेंगे तो दूसरों को तो कहना ही क्या वैधत्य हेतु वैधत्य में कारण क्या है क्यों ये मिथ्या कहते हो आप कद शरीर मध्य स्थान ही ऐसा यशमान शरीर मध्य स्थान भवती होगा काम कौन है शरीर के भीतर था जो अच्छा, शरीर के भीतर था अच्छा, क्यों हाँ क्योंकि तब त्री भाव उपलब्ध वहीं पर सकल भाव पदार्थ उपलब्ध हुए क्या क्या भाव पदार्थ उपलब्ध हुए कच पर्वत हस्तिया न शरीर से बाहर कुछ उपलब्ध नहीं हुआ शरीर के भीतर सब उपलब्ध हुए मान लीजिए आप स्वप्न में लॉटरी टिकट खरीद ली है और एक करोड़ रुपए मिल गया लॉटरी खुल गई मिल गया आपको इनकम टैक्स वगैरह कट कुट करके तो करीब सत्तर लाख रुपए आपके हाथ लग गया आप लाए घर में त्रिजोरी में बंद कर दिए और आराम से सो गए सुबह हुआ जगह अब खोले त्रिजोरी मिलेगा सत्तर लाख करके तो आप करके वहीं सोए और कोई चोर आया नहीं कुछ नहीं आया वैसे का वैसे तिजोरी बंद है लेकिन खोलते हैं तो खाली है कहा गया हो पैसा साथ इसलिए कहते हैं ये सब भीतरी उपलब्ध बाहर था ही नहीं तो कहा से वो उपलब्ध है यदि शरीर से बाहर भी होता तो शरीर से बाहर वाला उसमें भी मिल जाए जग जाओगे तो उस त्रिशोरी में मिलना चाहिए स्वप्न में आपने यही देखा शरीर से बाहर कमरे के भीतर में जो त्रिजोरी था उसके अंदर आपने बंद करके रखा है और जगने के बाद वो त्रिजोरी वही दिखाई दे रहा है कहा तो इसलिए कहोगे महाराज स्वप्न में जो देखा तो, तो है त्रिजोरी तो है हम तो खोल के लाओ पैसे तो कहा से लाओ त्रिजोरी तो है हाँ, हाँ। प्रमाण लेते हैं मनुष्य हाँ इसलिए कह रहे हैं जो प्रमाण कुशल कई बार ऐसे होता है कि आप लोग जानते हैं कई चीजें हैं जो आम आदमी जो जानता है उसको प्रमाण कुशल क्या कहते हैं गलत जानता है खंडन कर रहे आम आदमी क्या कहते नील गगन उनको आता है और प्रमाण क्या कहेगा नहीं नहीं नील गगन न संभवती सर्वानुभव सिद्ध वस्तु ऐसी कई चीजें हैं जो कि प्रामाणिक लोग नहीं मानते इसलिए कहना पड़ा मनीषी प्रमात्र कुशल आप इसी करेंगे सर्वान और सिद्ध है आप और कई बार लिखी ही देते भाषिका हा हार का हाँ, पर्यतम ब्रह्मा जी से लेकर गौड़ा जो खेती करने वाला वहां तक सभी के सभी का ये केवल मनीषी नहीं है ब्रह्मा जी भी ले लिया वहां ऐसे भी प्रसंगों में भाषाकार कह देते हैं तो ब्रह्मा को लेकर के नीचे तक सब का एक ही हाल इस विषय में बता दिया कई तत्व जो की मनीषी जो नहीं मानते हैं हो सकता है सरल मानव बोले जितते हैं स्वप्न लेकिन मनीषी का नहीं भाई स्वप्न सत्य है क्या होगा होगी फिर उसमें जैसे सरल सिद्ध क्या है जगत सत्य है ट्रू कॉपी को हमने अटेस्ट करा दिया अटेस्टेड बुक थी क्या जरूरत है आप भेज दिया जब इंटरव्यू होएगा उसको दिखा देंगे ओरिजिनल नहीं नहीं कहते तुम्हारे पास होगा अगर दुनिया मानती होगी तुम बड़े ट्रिपल मास्टर डिग्री पाया हुआ है इन दुनिया मानने से क्या हम स्वीकार कर लेंगे हमें तो क्या प्रमाण मिलेगा इसलिए कई विशेष तरह के लोग उदाहरण में आप देखोगे भले सर्वानुभव सिद्ध है बिंब प्रमाण कुशल उसका विरुद्ध चलते हैं कि यथार्थ कुछ और होता है इतर से स्वप्न सर्वान सिद्ध मिथ्या करके हो सकता है प्रमाण कुशल सत्य साधन करने की कोशिश करे इसलिए करे कि नहीं इस विषय में तो ऐसा है प्रमाण कुशल भी थप्पा मारने की भाई ये तो मिथ्या है स्वीकृति किया है कुछ भी उपलब्ध नहीं करता तस्माते विदधा इसलिए ये सकल भाव पदार्थ क्या है वितत होने योग्य ही है समझो अपरकात्यंत उपलभ्यमान घटाधि अनेकांति को हेतु आशंका समृतत्व हेतु पूर्व पक्षी कहता है देहांत संकुचित देश में स्वाप्रभाव पदार्थ हमारे अनुभव नहीं हुआ बाहरी है मानव क्यों भर अपवरकादि अंतर उपलब्धमान घटादि के घटा घटा उपलब्ध हो रहे हैं का अपवरक मैंने दीवार आदि से उपलब्धि मानी उसको पार करके हो गया है आपका अनुभव क्या हो रहा है सपने आप यही देख रहे हैं आप कमरे से बाहर गए उधर घड़ा रखा हुआ है रसोई घर में गए पानी पी के आए अनुभव नहीं हुआ तो बाद नहीं होता शरीर के अंदर कहा देखा उसने उसने ये तो नहीं देखा है ना मेरा शरीर पड़ा है और शरीर के अंदर मन है और मन एक नाड़ी में है वो नाड़ी के अंदर उसने मकान बनाया मकान के अंदर रसोई घर रसोई के अंदर खुद एक और बन गया और वो जाके पानी पिया ऐसे मैं तो अलग होकर अनुभव तो किया तो शरीर के भीतर में कैसे आपने कह दिया अनुभव तो ये कह रहा है कि शरीर को बाहर गया तो रसोई घर में जाकर पानी पी के आया तो कैसे मानूंगा मिथ्या ही पूर्व पक्षी कहता है अपवर का अंत उपलब्ध मारी गता अनेक कांति संज्ञा स्वर्गत्व हेतु इसलिए स्वर्गत्व परिवर्तित टीकाकार ने कर दिया भाई इनके अंतरोपलब्धि के आधार पर आप उसकी विचारिता वैधता मिथ्या करना चाहते हैं अंतरोपलब्ध होने मात्र से वस्तु व्यविचारी नहीं हो सकता क्योंकि जो है तो व्यविचारी हेतु ही है अंत तत्वाधित हेतु क्या है व्यविचारी है क्योंकि अनुभव बहिस्तत्व वहां पर है तब सिद्धांति कहता है कि नहीं नहीं समृत्व हेतना अंत समृदय स्थाना अंत मैंने समृदय परिच्छिन्ने शुद्र देशे विशाल देश शून्य क्षुद्र देश में विशाल देश की अनुभूति हो रही नहीं अंत समृद्धे देहांतर नाड़ीश पर्वत हत्यादि राम संभव ये जो अंत है अगर जो समृद्ध देश है परिच्छन देश है कह रहा है देह के भीतर होता नारियों में पर्वत हाथी घोड़ा ऐसा कहा से होगा पर्वत हत्यादि राम संभव नहीं अस्थि नहीं देह पर्वत अस्थि साफ साफ बात है तो प्रगट हो नहीं सकता और देह का भीतर में ही सब कल्पना प्रचार होगा नहीं हम मानेंगे बाहर गया था कोई पक्षी कहेगा तो ये दृष्टान सिद्ध करना पड़ा ना वेदांत में तो सप्रवत कह देते बार बार सब भेज सब सप्रवत अरे कहने से कैसे होगा इसलिए जान की सुपवत युक्ति से सिद्ध करना हर बात को तो यह दृष्टान जो स्वप्न है हमारा उसको मजबूत कर रहे हैं पूर्व व्यक्ति कहते हैं नहीं जी हम तो बाहर गए अपने दोस्त से मिल के आए अब कैसे करोगे तुम बाहर नहीं गए थे तो भीतर ही कल्पना किया था अब वो तो अड़ा हुआ है हम बाहर गए थे तो उसे पूछना पड़ेगा भाई ये देखो तुम बाहर कहा गए बाहर कहा गए मैं तो मुंबई गया उसे बातचीत करके आया अभी मुंबई गया था कब गया कल गया था कल रात्रि हाँ अरे जानते हो यहाँ से मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगता है कम से कम चौबीस घंटा ये चौबीस घंटा गया था तो लगा था जाने में चौबीस घंटा आने में चौबीस घंटा अड़तालीस घंटे वहाँ बातचीत हुई दो तो चार घंटे इधर घंटे बीते थे क्या नहीं देखिए इसका तो बाहर गया ही नहीं था बाहर जाने में जो दूरी है जितना दूरी के लिए जितनी समय लगनी चाहिए वो सब अनुभव होना चाहिए ना उनको ऐसे यहाँ टिकट बुक करके जाते हो रेलवे स्टेशन पर मिलते कि नहीं मिलते और कोई स्टेशन नहीं मिला सीधे यहाँ से उड़ के इसलिए मुंबई ये कोई कैसे हो गया भाई इसे कहते अदीर्घत्वाच काल से गत्तादेशान्न प्रतिबुद्ध देशे न विद्यते तो अदीर्घत्वात आपका अनुभव दस पंद्रह मिनट का था काल से अदीर्घता काल दीर्घ नहीं था यहाँ पंद्रह मिनट बीता है और जाने आने आदि का काल का विचार करते हैं तो दो ढाई दिन का मामला है और बीता है क्या पंद्रह मिनट कैसे घटने का बाहर गया करके हम कैसे मानेंगे दूसरी बात गत्वा देशान न पश्यती संकोच को देखने से मालूम होता है बाहर जाकर के तब तो देशों में जाकर के उसे अनुभव करके आया ये नहीं कर सकते अरे हाँ भले न को हम मान रहे पूर्व पक्ष हट रहा सब प्रतिबुद्ध वही सर्वा तब कहेंगे उसे जगने के बाद तुम फोन करके पूछो वहां वहां सब है जो जो तुमने देखा था सोचा था समझा था बोला था दिया था वो सब है या नहीं पूछो यदि आप वास्तव में गए थे और आपने दिया ही है उसको वो वहां में चाहिए ना आपने उसको मतलब पांच हजार रुपये दिए जा करके तो फोन करके उसमें पूछो ना तो पांच हजार रुपया तुमको जो दिया था उसको सही ठीक से रखा हो कि नहीं रखे हो और आपने हिसाब किताब में लिख देना हमारे कर्जा चुक गया मानेगा हो गए तुम कब आए भाई तुम आया न दिया इसे मालूम हो जाता है कि आप चाह करके उस देश को कुछ किए ही नहीं है तस्मिन देशे सर्वन्न विद्यत उस देश में जो कुछ भी आपने व्यवहार किया है वो व्यवहार में से एक भी व्यवहार वहां उपलब्ध नहीं होगा अतएव ये मानना पड़ेगा आप बाहर गए नहीं है वहां कुछ व्यवहार हुआ नहीं तथा सब पितरी था स्वप्न दृश्य दृश्याराम भावाराम अंत स्वर्गस्थान और पूर्वक्षी कहता है स्वप्न का जो दृश्यभूता भाव पदार्थ है उनका स्थान भीतर है भीतर में क्या भीतर में भी संकुचित स्वृत अंत और अंत में भी स्वर्ग स्थान पेट में नहीं नाड़ी के भीतर देखा नाड़ी संधि में पूरा नाड़ी में भी नहीं नाड़ी संधि में मारा जाता है स्वप्न उधर गया परितत्व में तो चला सो जाएगा इधर आगे तो जागरूक हो जाएगा तो बीच का जो संधि स्थान है वहां बैठ के देखा है कितना क्षुद्र स्थान है इतना छोटा सा स्थान है इधर अंतर भी है और सौरभ स्थान है वेदांत समृद्धस्थानम ये जो आपने पूर्व पक्ष ने कहा है अंत सत्ता समृद्धस्थान दो हेतु के द्वारा प्रसिद्ध किया दोनों की इकट्ठा अंत समृद्धस्थान का एक हेतु बना दो दोनों मिला के तो पूर्व पक्षी कहता ये तक असित हम दो सौ दस है पक्ष में नहीं घटेगा पक्ष क्या है सर्वश्याराम भावा भावा मिथ्या स्वप्न भावा मिथ्या अंत समृद्ध सार्थकता किया करेगा वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं आश्रय सिद्ध दोष है अंत तो जो हेतु पक्ष में नहीं है जो स्वप्रदाप कहा है जो बाहर है इसीलिए वो अंत समृद्ध स्थान वाले नहीं है किंतु बही विवृद्ध स्थान वाले हैं वो एक तो बाहर है और विशाल देश में जो हमने अनुभव किया है पर्वत भीतर हो नहीं सकता इसलिए हमने पर्वत को बाहर ही अनुभव किया है भीतर हो नहीं सकता इसने हाथी को बाहरी अनुभव किया है पूर्व पक्षी तब यस्मात्च्य सुषुप्त उदक्ष शब्दांत निवदृश्य कारण क्या हो कहता है पूर्व दिशा में सोया यानी कलकत्ता में सोया और जगह कहा नया कहा तो मुंबई पश्चिम में चला गया और फिर जगह कहा वापस वही कलकत्ता में जा गया पूर्व में ही जग गया पूर्व में रहने वाला पश्चिम का देख रहा है उत्तर में वो दक्षिण का देख रहे है उधर कौन कहा का देख रहा है स्वप्न कृष्णान से कथन कर दिया प्राची सुप्त उदक्ष स्वप्तान पश्चिमी प्राच्य देश में सोया था और उत्तर दिशा में जाकर काम कर सब कर करा करके चल रहा है अपने आप का स्वप्न में क्या देख रहा है मैं उत्तर दिशा में हिमालय में हूँ वही देख रहा है आपको तपस्या किया दस बीस साल फिर लौटा कहते लेकिन युवक भाषिका संभल के बोल देते हैं इसलिए उदक जो स्वप्रांत ईव दृश्य लेकिन इस बात को जो है युवक को भाषिकार ने कहा है इन पूर्व पक्षी कहता है हमने तो उत्तर दिशा में विवाह गया था विवाह वहां जाके आया हूँ इसलिए बाहरी है सब कुछ आशंक्य जब ये आशंका हुई तब आह तो जवाब करते नहीं हो सकता न देहादेशांतरम गत्ता स्वप्न पश्यति देहात न गत्ता न पश्यति था उसको पहले ले रहे हैं द्वितीय पाल को देह से बाहर देशांतर में जा करके मैंने अपना इस पूर्व दिशा में सोया हुआ मकान के भीतर में जो सोया हुआ शरीर है पूर्व दिशा में सोया हुआ है ना वहां से निकल करके शरीर से अलग होकर के दूसरा शरीर बनाया या वही शरीर से बाहर चला गया और उत्तर दिशा में जाकर के घूम फिर करके आया ऐसा आप नहीं कर सकते सुप्त मात्र योजन शतांतरित मास मात्र प्राप्य देश स्वप्तांतर निर्दृश्यत है सुप्त मात्र एवं सोते ही बराबर क्या अनुभव कर दिया सेकेंड वर्ग नहीं लगा उसको हिमालय पहुंचने जिसको महीना भर लगेगा पहले जमाने के हिसाब से ना पैदल यात्रा होता था जिस देश को पहुंचने के लिए एक महीना लगना है उस देश को आप क्षणों में पहुंच गए फिर ऐसे हम मानेंगे कि आप बाहर जाके बाह्य देशांतर को किए हुए काल का संकोच का अनुभव हो रहा है देह देश योजन शतांतरित सैकड़ों योजन दूर में है वो दूसरा जो देश जहां आप गए थे स्वप्न में और वहां जाने के लिए एक सेकंड दो सेकंड का काम नहीं है मास मात्र प्राप्त है कम से कम एक महीना लगने का ऐसा दूर प्रवेश में पहुंच गए स्वप्नों को पश्चिम स्वप्नों को देखते हुए समान हम लोगों का अनुभव होता है न देश प्राप्ति आगम से दीर्घ काल अस्थित इसे तारस देश प्राप्ति को जाने में और आगमन आगमन के प्रति जो आवश्यक दीर्घ काल है तारस दीर्घ काल इस स्वप्न में नहीं है नास्ती अतो अदीर्घत्वाच काल से न स्वप्न दृक देशांतर गच्छते इसलिए अदीर्घ काल में सब कुछ अनुभव हो जाने के कारण यह मानना पड़ेगा कि यह स्वप्न दृष्टा अपना शरीर जहाँ पर पड़ा है उस देश से भिन्न कोई देशांतर को गया ही नहीं ये मानना पड़ेगा इतना ही नहीं ये हट करते हैं नहीं आप भी कहने से क्या गया तो मेरा स्वप्न में समय गया हूँ आप भी सो रहे थे आपको मालूम नहीं मैं क्या क्या गया ना आप यदि कहें कि भाई मैं तो वहीं बैठा था मैं देख रहा था आप तो वहीं सोए थे कोई कह रहा आपको नहीं दिखाई दिया मैं ऐसे जाके चले आया बस दी है आपको दिखाई नहीं दिया मैं जाके चले आ गया अब क्या करोगे तब इसे जो है तो भी देना जरूरी हो गया फिर आप वास्तव में जाके आए थे तो वहाँ जो जो काम किए हैं वो सब पूछिए तो पता चलेगा तो हुआ कि नहीं हुआ है अब तो नहीं हो सकता है ना बात सच्चाई ये आप जहाँ गए मुंबई गए मान लो वहां का फोन नंबर तो होगा फोन करके पूछेंगे भाई अमुक व्यक्ति तुम्हारे पास आया था क्या तो क्या करें आएगा ऐसा बोलेगा हमारा नहीं आया तो उसे पूछेंगे भाई देखो तुम्हारे आगे तुम कह रहे तुम उसके घर जाके आए खाए पिए सब व्यवहार करके आया वो तो कह रहा तुम आए ही नहीं यदि तुम वहां गए होते वहां तुम्हारा जाना व्यवहार जो भी जो भी तुम लेन देन जो भी किया तो वहां के लोगों को तो मालूम होना चाहिए ना इन है नहीं वही कहते हैं किंच प्रतिभूत वही सर्व स्वप्रदृत स्वप्रदर्शन देश न विद्यते झगड़े के बाद उस दृष्टा को खुद को भी उस स्वप्र दर्शन जा हुआ था उस देश में जो जाके देखेगा तो आज सब कुछ नहीं मिलेगा कुछ कुछ मिल भी सकता है या नहीं जैसे आपने स्वप्न जिस मित्र को देखा बातचीत के मित्र तो आई ही है लेकिन जो बात है वो तो हुई नहीं है जो दिया आपने वो नहीं दिया है वो बात अलग चीज है व्यक्तित्व है ना इसलिए कहते हैं कि भाई उन स्वप्न दर्शन का देश में जाओ के देखोगे सर्व न विजते सब कुछ वहां नहीं मिलेगा किंचित मिल सकता है लेकिन अधिकतर वस्तु नहीं मिलता है स्वप्न देश गच्छे तो यदि वास्तव में आप स्वप्न में देशांतर को जा करके व्यवहार किए होते तो यशविन देश स्वप्न तपश्चेत जिस देश में आपने स्वप्नों को देखा था तत्व प्रतिबंधे वहीं पर तो जगना भी चाहिए था अरे वहां गए और वहां सोए तो जगह यहाँ गए थे मान लो यहाँ से वहां चले गए और उसे खिलाया पिलाया आपके दोस्त है मित्र जो भी अगर जगत और आप खा पी के वहां सो गए सोने गया सुबह हुआ तो जगह कहा जहां जाके सोए तो वहां जगना चाहिए था कि नहीं जगह तो यहां पे इसका मतलब आप गए नहीं थे ये कह रहे हैं कि यदि वास्तव में था वैसे तो यशमिन देश प्राण पश्चिम प्रतिबुद्ध था उसी जगह पर आपको जगना चाहिए था न चरित्र ऐसा तक तो किसी का अनुभव नहीं हुआ रात्रो सुप्तो व भावान पश्यती है और दूसरी बात इतरा तो आपको अकल है कि आप कब सोए थे रात में और हो सोते बराबर क्या हो गया दिन हम मान लो कि इस बात को रात्रि दस बजे सोए हैं सोने के बाद तुरंत बाद दोपहर के बारह बज गया जो कैसे बजेगा भाई है यह मानना पड़ेगा इसलिए स्वाप्रपदार्थ मिथ्या है रात्रो सुप्त अहन इव भावान पश्यति बहु भी संगत और वो भी अकेला देख रहा है बात नहीं और बहुत लोगों के साथ देख रहा है मान लीजिए आप गए यहाँ से सपन में कहीं सब मित्र सूत्र को लेकर गए अन्य महात्माओं के साथ गई भयंकर एक्सीडेंट हो गया जैसे महात्मा मर गई और जगने के बाद जाके देखो उसकी सी होगी गया था ना लेकिन आजाद जिंदगी मिलेंगे कोई महात्मा मरा नहीं मरा मरेगा आपने स्वप्न में देखा एक्सीडेंट हो गया समझ गए आप अकेले जिंदे लौटे हो और सवेरे जगह तो घंटी लगते सब आपके में खड़े रहते हैं वहां क्या करोगे तीसरे तो कहते हैं कि भाई ये तो हो नहीं सकता बहुतों से संगत होकर आप रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति दिन में अनुभव करता हो जैसे अनुभव करते हो ये इष्ट संगत बहुत ही तैरपी गृहित यदि वास्तविक होता जिनसे संगत होकर तो आपने अनुभव किया है उनके द्वारा भी तो ग्रहण होना चाहिए नहीं होगा जिनसे जिनके साथ आपने ग्रहण किया कोई तत्व को उन लोगों से तो पूछना पड़ेगा तुमने ग्रहण किया कि नहीं वो कहो को कहा वो कहे हाँ मैं भी था मैं भी ग्रहण किया होता नहीं न चुगृहते कोई ग्रहण ऐसा नहीं करता गृहित चेत तो हम अद्यत उपलब्ध बंतो वयम ब्रूयो हो यदि वास्तव में उन्हें उपलब्धि हुआ होता तो क्या करते जगने के बाद सुबह ही फोन करके बोलते अरे भाई कल वहां हम आपसे मिले थे कितना अच्छा था है बहुत बढ़िया रहा कि नहीं रहा कल भी आ जाना रात्रि को और दिन का खेल खेलेंगे हो अरे हम लोगों ने आपको वहां पर उपलब्ध किया था और ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ था बड़ा अच्छा लगा ऐसे ही रोज रोज हो गए तो कितना बढ़िया रहेगा रोज आप आया करें जा करते हो क्योंकि कल जो सफर देखे तो याद भी नहीं रहता है जो नहीं जो सफर तो वैसा ही सफर रील भी नहीं चलता दोबारा वही जाना भी चाहेंगे तो नहीं जाना लोग माता बुड्ढे से आते हैं और कहते हैं महाराज पहले ऐसा ऐसी साधना में हमको अनुभूति होती रही माता जी भी दर्शन होता था जब बैठे रहता था बड़ा आनंद आता था ये बदल आजकल क्या हो गया कुछ नहीं दिखाई कुछ नहीं हो बुद्धे हैं बहुत होंगे सत्तर उम्र के मैंने वो कहा कि भाई अब हम क्या बताए आप दो तीन कारण हो सकते हैं एक दुकान तो एक हो है कि आप बैठे बैठे मनोराज्य करते रहे ध्यान में हुआ ही नहीं था कुछ आप लग सोच रहे थे मैं ध्यान में बैठा और मेरे को भगवान का दर्शन हो रहा है सब दिव्य आनंद आ रहा था ये आपका अपना मनोराज्य हो गया तो यह तो दिवा सुख बैठे बैठे सो गए हमने ध्यान करते हुए दिवा ने चल पड़ा और फिर मैंने जग गए तो आप सोचा मेरे ध्यान में नहीं था ये नहीं सकता है फिर तीसरा ये भी हो सकता है कोई तो जन जन्मांतर का भयंकर दुष्कर्म यज्ञ होगा और बुरी वासनाएं आप सामने आ गई है और वो वासनाओं के अनुरूप आपको जो है अनुभव में आ रहा है है और कोई चौथा तो विकल्प है नहीं मैंने कहा आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा तीन विकल्प से कौन सा सही है अपने आप को संतुष्टि कर लेंगे ये मानो अपने आप को क्यों मानो मनोराज्य किया अपने वो क्यों कोई मानेगा कि मैं ध्यान में सो गया था स्वप्न देखा है अच्छा यही कहो कि मैं पहले सिद्ध था और अब गिद्ध हो गया बात खत्म तो परेशान होकर कैसे होगा ऐसे कैसे हो गया तो कहते हो सकता है क्या करें योग भ्रष्ट ऐसे थोड़े हो जाते तुम्हारे जैसे तो वो भ्रष्ट होते हैं तो बेचारे फिर कहे कि ठीक है आपका है तो मान लेता हूँ तीनों में से कोई विकल्प तो मान नहीं पड़े कोई चौथा विकल्प कोई शास्त्र बताओ तो बताओ भाई आप ही बताता तो मेरे को मैंने हमारी जानकारी में नहीं हो सकती आप बताइए कोई और विकल्प सोच तो और क्या संभावना है वो सोचते दिमाग में उधर कोई तंत्र मंत्र कर दिया होगा मैं सुन गए अरे कहा तंत्र मंत्र साधक पर कहीं तंत्र मंत्र लागू अरे जिसके पास भगवान आ रहे हो क्या तंत्र मंत्र लागू होगा इसे मैंने उल्टा से नहीं कहा था जब आपने ये कहा मेरे ध्यान भगवान से बात हो रही थी भगवान से मैं बड़ा प्रेम से रहता रहा इतना उपदेश हो देते थे बड़ा आनंद आता अरे वहां का तंत्र मंत्र घुसेगा क्या इसलिए वो विकल्प मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि आप मान साधक सिद्ध है ऐसे कैसे हो सकता है वासना ही तो रोक सकती है तंत्र मंत्र नहीं रोक सकती प्रवेश नहीं हमने कहा देखो विशो द्रवंती कहा कि नहीं भगवान ने मेरा स्मरण करो सारे भूत प्रेत राज भग जाते हैं कहा तेरे को तंत्र मंत्र आएगा हाँ ये बात तो ठीक है तंत्र मंत्र है ना हम हाँ, मन तो में भ्रांति तो नहीं रहा मन में भ्रांति तो वो भी तंत्र मंत्र कर दिया है इसलिए मैं तब तो तक गड़बड़ हो रहा हूँ भ्रांति को निकालो ये हो नहीं सकता है तो इसी तरह यदि मान लो कोई आदमी कल फोन करके बोल दे आप मेरे पास आए थे आपने कहा था हमारी बेटी से आपके बेटे का शादी करा देंगे आप कराओ तो आप बोले तुम्हारा सौ प्रदा आज तुम्हारी बेटी को मारे वो कह रहे तुम्हारा घटेन ऐसा घटते नहीं कोई तस्मात देशांतरम गच्छति स्वप्ने निष्कर्ष निकला स्वप्न में कोई देशांतर को प्राप्त होता नहीं है ऐसा अच्छा ठीक है स्वप्न का दृश्य जो बाद मिथ्या है इसमें एक और एक तंत्र देना चाहते यह अनुमान विद्या का स्वप्न सत्यो अनुभवती उचित काल विकल्पात संप्रतिपन्न वैत्य फलित पूर्व पक्ष का अनुमान किया ना हमने पूर्व पक्ष ने कहा कि आपने कहा अंत समृद्धता समृद्धता ये तो दिया उसने खंडन किया नहीं वही विभिन्न उसमें फिर आपको अनुमान करना पड़ा स्वप्न सत्यो न भवती स्वप्न में क्या भवती कदम उचित काल आयु कल्पा उचित काल उचित देश उचित व्यवहार आदि का अभाव होने से ये हेतु लेना कारण विधि अनुमान दिया